चरिताद स्वा मा सुचरित सम्मान्य विद्वतगण धर्म प्रेमी सज्जनों प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यवहार को सूक्ष्म दृष्टि से देखने का प्रयास करें लोगों के व्यवहार को उनके जीवन को व्यक्ति देखता रहता है उनके दोषों को बड़े ध्यान से देखता है जैसे दूसरों के दोषों को बड़े सूक्ष्म दृष्टि से देखता है प्राय व्यक्ति उतनी सूक्ष्म दृष्टि से अपने दोषों को नहीं देखता पद्धति रीति यह है कि अपने दोषों को अधिक सूक्ष्मता से अधिक सावधानी से देखना चाहिए दूसरे लोगों के दोष गौण दृष्टि से देखने होते हैं एक स्तर है व्यक्ति का जब वो अपने दोषों को सूक्ष्म दृष्टि से देखते देखते विद्या के क्षेत्र में धर्म के क्षेत्र में योग के क्षेत्र में ऊंची स्थिति प्राप्त कर लेता है उस स्थिति में वह अन्यों के समाज के देश के और विश्व के दोषों को सूक्ष्मता से देखता है अधिक बल देता है उसकी ऐसी स्थिति में इतनी योग्यता में वो उचित दृष्टि से देखता है पक्षपात बुद्धि से नहीं देखता द्वेष बुद्धि से भी नहीं देखता और दूसरे के दोष देखते हुए उसके अंदर वो दोष प्रवेश नहीं करते यदि ये कच्चा व्यक्ति एक नवीन व्यक्ति जिसमें अपने दोष अभी बहुत अधिक हैं पक्षपात रहित नहीं है उन दोषों से ये छूटा नहीं है तो दूसरे के दोष देखते देखते वही दोष अपने अंदर आ जाते हैं ये स्थिति औरों के दोष देखता है और उनको बताने का प्रयास करता है कालांतर में वे ही दोष उसके अंदर आ जाते हैं अपने दोष अटे नहीं और दूसरे के दोष उसके अंदर आ गए दूसरे के दोष देखते देखते उसके अंदर एक दोष और आता है कि जिस किसी के वो दोष देखता है उससे वो द्वेष करता है उसके दोषों को देखे क्रोधित होता है आत्मवत वो नहीं देख पाता करते हैं अध्ययन के पश्चात अध्यापन भी करते हैं उपदेश भी दे लेते हैं इतने के पश्चात कुछ एक भाव उभरता है कि अब मेरे अंदर कोई विशेष दोष नहीं रहे ये स्थिति आती है और प्रायः व्यक्ति ऐसी स्थिति में आ जाने पर अपने दोष देखना बंद कर देता है जबकि योग की दृष्टि से देखो सूक्ष्म दृष्टि से देखो वृत्तियों को मानसिक राग द्वेष को देखो काम क्रोध की वासनाओं को देखो तो अभी वो व्यक्ति दोषों से परिपूर्ण है भरा हुआ आजकल के अध्ययन अध्यापन में आजकल के लिखने पढ़ने पढ़ाने में आजकल के उपदेशों के अंतर्गत ये रूपरेखा इसी रूप में मान ली जाती है अर्थात इसी शैली से व्यक्ति प्राय चलता है यदि आप में ये दोष आ गया तो आप अपना विकास अपनी अविद्या को दूर नहीं कर पाएंगे विद्या का विकास नहीं हो पाएगा सूक्ष्म दृष्टि से आप धर्मात्मा विशुद्ध आत्मा नहीं बन पाएंगे अधार्मिक रहेंगे अपने मन के ऊपर अधिकार नहीं कर पाएंगे मन के अधीन रहेंगे यदि आप इस शैली से नहीं चलेंगे तो अभी आपने ईश्वर के स्वरूप का वर्णन सुना इतने विशेषण दिए आप उसको कितनी देर तक पढ़ते रहेंगे उन विशेषणों वाले ईश्वर को नहीं समझ सकते आज जो आपने पढ़े व्यवहार काल की कुछ बातें घटनाएं कल मैंने आपके सामने रखी थी यदि आप ऐसा व्यवहार करते हैं तो आपका आत्मनिरीक्षण कुछ नहीं है आपकी स्थिति नीचे जा रही है आप स्वयं को भी अपने लिए भी हानिकारक सिद्ध हो रहे हैं और दूसरों के ऊपर भी उसका कुप्रभाव पड़ता है आपके जीवन के लिए नियम बनाए गए आप दोनों समय क्रिया आत्मक रूप में एक एक घंटा योगाभ्यास करेंगे तो आपकी गति विकास योग में होगा प्रगति होगी विकास होगा मन की विविध स्थितियों को जान पाएंगे आप शुद्ध होते चले जाएंगे और आगे चल के ईश्वर से अपना संपर्क कर लेंगे यदि आप उसको श्रद्धा से नहीं करते कोई रुचि नहीं विवस्था से बैठ जाते हैं और बैठते भी नहीं और पूरे ध्यान काल में ध्यान का काम भी नहीं करते और उसको दोष भी नहीं समझते तो ऐसी स्थिति में आप योग विद्या को समझेंगे आप योगी बनकर दूसरों को योग सिखाएंगे आप ईश्वर का अनुभव कर सकेंगे ये कार्य संभव नहीं होगा जब आप वेदों और ऋषियों की बातों को पढ़ेंगे सुनेंगे याद रखेंगे तो पता चलेगा कि जो कुछ हम करते हैं पढ़ते पढ़ाते हैं लिखते लिखाते हैं व्यवसाय करते हैं उस सारे के सारे कार्यकलाप का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति करना करवाना होता है ऐसा ऋषि मानते हैं ऐसा ही वेद में भी है और आप बन गए बुद्धिमान सोचने का ढंग आपने अपना बदला अपनी शैली बदली हाव भाव बदले वो ऋषियों की मान्यता छोड़ वेद की मान्यता छोड़ और आधुनिक लोगों की मान्यता भोगवाद अर्थवाद को आप लेके आगे बढ़ने लगे स्थिति ये हो अंत में परिणाम होगा जिस लक्ष्य को उद्देश्य को आप पूरा करना चाहते हैं वह पूरा नहीं होगा हो सकता है आप जो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ उसको पूरा मान बैठे अज्ञानता से ये भी हो सकता है आप सूक्ष्मता से देखें तो अपनी मूर्खता का अनुभव करे कि इतने वर्ष मैंने लगाए श्रद्धा रुचि से कभी भी योगाभ्यास नहीं किया कभी भी विवेक वैराग्य के लिए प्रयास नहीं किया मैं बहुत अज्ञानी व्यक्ति हूं अपना जीवन मैंने विफल कर दिया ये भी अनुभव हो सकता है प्रयोगों के न करने से तीसरी स्थिति उसके दिमाग में ये बात भी बैठ सकती है कि ये कहने और सिखाने की बातें पढ़ने पढ़ाने की बातें आदर्श रूप में रख देते हैं वास्तव में ऐसा कभी होता होगा ये बात मन में नहीं बैठती ईश्वर नाम की वस्तु कोई दिखती होगी समस्त दुख दूर हो जाते होंगे नित्य आनंद की प्राप्ति हो जाएगी है हुआ कुछ नहीं ऐसी स्थिति भी आपकी बन सकती है एक गुरुकुल के पढ़े लिखे व्यक्ति ने लोगों को सुनाया और लोगों ने मुझे सुनाया कि 25 वर्ष हो गए मैं गुरुकुल में पढ़ा और आगे सारा अध्ययन किया अर्थात 25 वर्ष तक संध्या करके मैंने देखा तो मुझे कुछ भी हाथ नहीं लगा कुछ भी नहीं मिला ये परिणाम निकला यदि आप सावधान हैं तो अनुचित परिणाम जो मैंने गिराए ये नहीं निकलने देंगे अनुचित परिणाम अंत में नहीं निकलने देंगे विशुद्ध वास्तविक परिणाम फल वही आएगा जो वेदों और ऋषिकृत ग्रंथों में लिखा वही आएगा वही फल होगा इसका ऐसी सफलता प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्या दिखता है वो क्या देखता है वो क्या सोचता है आपने सुना है और सुनते रहिए कितने वर्षों तक तब हो सकता है समझ में आ जाए वो ये देखता है मैं जो जानता मानता सोचता हूं इसमें तीन काल में सत्य क्या है मैं इस परिणाम पर पहुंचना चाहता हूं ईश्वर है या नहीं मैं इस परिणाम पर पहुंचना चाहता हूं ईश्वर है ही अथवा है ही नहीं इस पर पहुंचना चाहता हूं दूसरी बात जैसे ये विशेषण पढ़े आपने ईश्वर के उसका वर्णन है तो ऐसा ही ईश्वर है इससे विरुद्ध ईश्वर नहीं है ये मैं जानना चाहता हूं इतने लोग ईश्वर को भिन्न भिन्न प्रकार से मानते कोई चौथे समान कोई सातवें समान कोई परम धाम इनमें कौन सा ठीक है मैं ये जानना चाहता हूं यही ठीक है और सारे गलत है वो देखता है कि ये कहा जाता है ये पढ़ा जाता है पढ़ाया जाता है विशेष कह नहीं विशेष सुखम अविद्या चीज उत्तम ये ऋषि कह रहे हैं विशेष सुख है वो सुख दिखता है अज्ञान के कारण अविद्या के कारण विशेष सुख सुख दिखता है वास्तव में वो दुख रूप ही है ये तो पढ़ते हैं ये पढ़ाते हैं हाँ जी नींद तो नहीं आ जाएगी है एक एक ऋषि बात कह रहा है विशेष हुक्म अविद्या चाहिए उक्तम परिणाम ताप संस्कार दुख ये गुणवृत्ति रोदाच दुखम एवं सर्व विवेकी नम सर्व विवेकी न ये विशेष दुख ही कहा गया कुतरपि कोपी सुखी न तद अपि दुख शबलमिति दुख पक्षे निक, निक्षिपन्ते विवेचका ये कौन बोलता है संख्यकार है क्या कह गए हाँ, <laughs> वास्तव में पूरा सुखी कोई नहीं है संसार में और जो सुखी है वो जो सुख है तद अति दुख थी वो सुख दुख से मिश्रित है मिला हुआ है कहीं एक हाथ डालो वहां सुख मिलेगा तो दुख मिलेगा अकेला सुख धरती पर न था न है न होगा ईश्वर को छोड़ के क्या समझ में आया दोहरा लो केवल सुख दुनिया में पहले भी कभी नहीं था आज भी नहीं है केवल सुख और आगे भी नहीं होगा लौकिक क्षेत्र में ईश्वर को छोड़ दीजिए अब वो जानना चाहता है ये जो कहा गया ईश्वर में केवल सुख है इसको मैं जानना चाहता हूं ये सत्य है तो ये जानना ही है इसके जाने बिना मैं विश्राम नहीं कर सकता अपने आप को किटकिटते बिल्कुल नहीं मानता नहीं मान सकता बादशाह ने वादशाह में क्या कहा एक बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया हलवा बनाया विविध प्रकार की उसमें वस्तुएं बादाम और ये डाला वो डाला और शुद्ध घी का भी बनाया और मान लीजिए वो 40 किलो हलवे के अंदर एक तोला विष का डाल दिया जहर का उन्होंने कहा जो बेसमझ है जो बुद्धिमान नहीं है जो अज्ञान से युक्त है मूर्ख है वह उसको हलवा समझ के खाता है बुद्धिमान तत्ववेता व्यक्ति वो उसको बेस समझ के नहीं खाता वो सारे दुखों से बच जाता है और वो मृत्यु को प्राप्त होकर दुख को भोगता है है कुछ याद या नहीं है कहाँ पर है रणबीर जी कहाँ पर है ये वर्णन अब पता चलेगा आपको हाँ जी हाँ कुछ वाक्य याद है ये परीक्षण जब आगे होगा आपका कितने वाक्य याद है कहाँ पर ये बात कही गई है वो प्रवचन में सुनानी हो किसी को बतानी हो वार्तालाप करना हो ऐसे नहीं होता उसको तैयार करना पड़ता है अब इसने कहा तो वात्स्यायन कार ने पर वो देखता है वो सत्य को जानने वाला क्या वास्तव में ऐसी स्थिति है या तो करोड़ों लोग दिन रात लौकिक सुख के लिए दौड़ धूप कर रहे हैं सारा जीवन व्यतीत हो गया अस्सी वर्ष का वृद्ध हो जाता है व्यक्ति यही काम करता है धन कमाओ संपत्ति कमाओ और खाते रहो पीते रहो विविध प्रकार से खाओ विविध प्रकार से वो दिन रात यही लगा हुआ और ये कहता है ये संसार का सुख तो ऐसा सुख है जैसा जहर मिला दिया हो स्वादिष्ट हलवे में और खा के व्यक्ति मर जाए ये संसार का सुख तो ऐसा है ये तो ऋषि कहते हैं और ये संसार के लोग तो बिल्कुल नहीं मान रहे सारे सारे उल्टे ये बुद्धिमान वैज्ञानिक आकाश पताल को जिसने खोजा आश्चर्यजनक जिन्हें चीजों का आविष्कार किया वो मानता ही इस बात को सुनने के लिए भी तैयार नहीं है मानने की बात तो दूर है क्या वो ठीक है या ये ठीक है इसका निर्णय करने वाला व्यक्ति कितना बुद्धिमान होगा कितना परिश्रमी होगा कितना सत्यग्राही होगा कल्पना करके देखिए यदि आप ऐसे हैं तो सत्य की खोज हो सकती है नहीं तो नहीं हो सकती आदर्श जीवन बनाने के लिए आदर्श व्यक्ति बनने के लिए सारा संसार टकराता है व्यक्ति के साथ एक एक कदम पर टक्कर होती है व्यक्तियों की समाज की परिवार की राजा की व्यवहार में सब जगह टकराव हो रहा है और वो देखता है देखो मैं इस टकराव से इस संसार के विपरीत व्यवहार से क्या डर जाऊं क्या इसको देख करके मैं विपरीत हो जाऊं उल्टा हट जाऊं क्या मैं सत्य की खोज न करूं सत्य को छोड़ दूं कौन सा ठीक है वो कहता है ये सभी ये संसार का टकराव और ये सारी बातें समझ ली है देख ली है ये इतनी देर की नहीं थी पहले ये और कालांतर में इनमें एक भी नहीं रहेगा जो मेरे साथ टकराव कर रही और ये शरीर भी नहीं रहेगा तो क्या इनकी बातों को छोड़ के मैं आदर्श को छोड़ दू इनकी बातों से प्रभावित होकर कहता नहीं मुझे बिल्कुल स्वीकार नहीं आपने ये तो पढ़ा होगा निंदन तो नीति निपुणा यदि तो लक्ष्य में समावेश तू गच्छतु वा पर जीवन के साथ जोड़ के नहीं देखा सम्मान्य विद्वदगण धर्म प्रेमी सज्जन कुछ प्रयोग संस्कृत भाषा के माध्यम से भाषण संभाषण के आरंभ किए जाते हैं साधक महाभाग है ज्ञापयिष्यति कश्य पदार्थ से प्राप्ते सती मानव इत्थम वदति प्राप्तम प्रापणीयम अवगतम न वा ईश्वर एव एकम पदार्थ अस्ति यत् प्राप्य व्यक्ति कथच कथति अहम प्राप्त प्राप्य पुनश्च ध्रुवदेव महाभाग साधक महाभाग से वाक्ये का अशुद्धि अभूत किम मानवाः कथयति यत् प्राप्तं तेन महाभागेन किम् उक्तम् तया उक्तं यत् कथति इति एवम् कथति तत्र किं कथनीयमासीत् कथयति इति एवं कथनीयम् का अशुद्धिः अभूत् एकः एकम् ईश्वरः अस्ति तु एकः ईश्वरः एव अस्ति आगतं किं वाच्यमासीत् ईश्वर है बहुता के मुक्तम एकम ईश्वरम एकम पदार्थ एकम एकम पदार्थ हाँ तो इदम विज्ञातम अशुद्धि कथम भवती कस्मिन विज्ञाते इदम अनुभव भवती व्यक्ति एवं अनुभव करोती यदि ज्ञातम ज्ञातव्यम रणवीर मौर्य ईश्वरस्य जाने सति किम किम एव नहीं शीघ्रेण न वक्तव्यम ईश्वरस्य ज्ञाने सति मनुष्य एवं अनुभवति यत् ज्ञातम तत् यत् ज्ञातव्यम तत् विज्ञातम केन हेतुना स कथयति ज्ञातं ज्ञातव्यमिति यतो हि ततो अग्रे हम्म। अन्ये नित्य सुख पदार्थ न अस्ति यः सुखं दद्यात् हम्म। संदीप महोदय किम एतत् सत्यं प्रतीयते ईश्वरस्य ज्ञाते सति एवं मानव अनुभवती यद प्राप्तम प्रापणीम किम भवतः बुद्धौ इदम संस्थितम स्थिरम अथवा संशयात्मकम ध्रुव देव महोदय जीवात्मा ईश्वरे वर्तते ईश्वर सर्वव्यापक है तर्री स ईश्वरस्य आनन्दस्य अनुभवं किमर्थं न करोति अज्ञानस्य आवरणं भवति तस्मात् अज्ञानस्य आवरणं यदस्ति अज्ञान कस्य पदार्थस्य गुणः साधक महोदय नित्यपदार्थानां ज्ञानस्य अभावात् प्रकृतिपदार्थानां प्रकृति जीवात्मा एवम् ईश अपि सर्वेषाम् पदार्थानाम् अज्ञानम् कारणात् अज्ञानगुणः कस्य पदार्थस्य गुणः भवान् वदति जीवात्मने गुणः इति अज्ञानः अज्ञानं वर्तते तर्हि स तु कदापि दूरे न भविष्यति अज्ञानं तस्य स्वाभाविकं गुणं न वर्तते स्वाभाविकं गुणं का त्रुटिः शरीर स्वाभाविक है गुणे कश्य अज्ञान स्वाभाविक है गुणे कश्य भवन वक्षति तमो गुण से तम द्रव्य तमस द्रव्य से स्वाभाविक अज्ञान गुण अस्ती अहम एवं मन्ये कश्चित न भी मन्यत धन्यवाद किमवगतम् अत्र संशयः वर्तते तर्हि एकस्य तु कस्य पदार्थस्य स्वाभाविकः स्वाभाविकम् अज्ञानगुणे स्यात् एव ईश्वरस्य न भवितुमर्हति जीवात्मनपि न भवितुमर्हति एकः पदार्थः अवशिष्यते प्रकृति अवगतम् एतद् विज्ञातम् अस्तु अधुना आर्ये भाषया अहम भाषिष्ये किम् अवगतम् अहम मैं आर्य भाषा बोलूंगा अब मैं आर्य भाषा के द्वारा संभाषण किम क्या भेद है आप ये मान के बैठे होंगे कि हमसे तो कोई पूछा नहीं जाएगा नहीं आराम से बैठे हो ना तो किसी से भी कभी भी पूछा जा सकता है ऐसे मान के न बैठिए कि कुछ लोगों से बात पूछी जा रही है इतनी सज्जा इतनी तैयारी इतना सावधान होना पड़ता है ये भी नहीं मानना चाहिए कि ये बातें तो हमारे समझ में आएंगी नहीं बहुत गहरी है ऐसा मान के भी नहीं बैठना चाहिए पहले से ही व्यक्ति ऐसा मन बना लेता है कि ये बातें तो हमारे काम की है नहीं या हमारे समझ में आएंगी नहीं फिर इसको कुछ भी समझ में नहीं आता ईश्वर ही एक ऐसा पदार्थ है जिसकी प्राप्ति के पश्चात जिसको पा लेने के पश्चात वह प्राप्त करता व्यक्ति ये कहता है प्राप्तम प्रापणीयम पाना था जो पा लिया अब पाना बाकी नहीं रहा हाँ जी उदय जी ऐसा क्यों कहता है वो अब ये निमाने बैठे थे कि मुझे नहीं पूछा जाएगा ईश्वर की प्राप्ति के पश्चात व्यक्ति यह कहता है ऐसा मानता है कि पाना था जो पा लिया अब पाना शेष नहीं रहा हाँ जी ईश्वर में ज्ञान की निरतिशयता है सर्वाधिक ज्ञान होने से और नित्य सुख होने से दोष रहित तो सुख होने से या दुख रहित सुख होने से उसकी उसकी प्राप्ति के अनंतर जीवात्मा यह कहता है कि ईश्वर को पाने के बाद मैंने जो पाना था वह पा लिया इस विषय में वैदिक परंपरा वेदों में उपनिषदों में दर्शनों में ये मान्यता ये सिद्धांत उपस्थित है करोड़ों वर्षों से ये मान्यता आज तक चली आई है आज लगभग पूरे विश्व ने इस बात को छोड़ दिया है और यदि कहीं है तो मिथ्या ज्ञान भ्रांति है फिर से सुनिए भौतिक वैज्ञानिकों में अरब खरबपतियों में ये बात है ही नहीं कि वो ये मानते हो कि ईश्वर को पा लेने के पश्चात व्यक्ति की सारी कामनाएं पूरी हो जाती वो नहीं मानते क्या जी आपका क्या नाम आप तो परिचित हैं आप भी तो नहीं मानते होंगे आपको भी तो कुछ पूछा जाना चाहिए नहीं तो आप बैठे रहेंगे मजे में आप क्या मानते नहीं मानते होंगे ऐसा तो एक स्थिति है मानना कहना स्वीकार करना एक स्थिति है मन में जगह दे देना पूरी की पूरी

इस सृष्टि को बने हुए लगभग एक अरब छियानवे करोड़ कुछ लाख इतने हजार आदि कुछ और महाभारत काल से पहले के काल को ले लो महाभारत काल को पांच साढ़े पांच हजार वर्ष हुए ऐसा माना जाता पीछे का काल इतने लाखों करोड़ों वर्ष ये मान्यताएं इस भूगोल में ऐसे चलती रही कि व्यक्ति का जीवन मानव जीवन की कृत देता अंतिम सफलता ईश्वर प्राप्ति करने और करवाने में है और कोई इसका उपाय ऐसी मान्यता चली इतने काल तक आई चारों आश्रम इसलिए व्यवहार में लाए जाते थे इसलिए उनका अनुष्ठान किया जाता था उन चारों आश्रमों का लक्ष्य चारों आश्रमों की कृतकृत्यता ईश्वर प्राप्ति करने करवाने में मानी जाती थी उससे व्यक्ति जो चाहता था जो उसकी कामना होती थी वो पूरी हो जाती थी आपने ये सुना है बार बार कि व्यक्ति क्या चाहता है ध्रुवदेव जी व्यक्ति क्या चाहता है हाँ जी व्यक्ति समस्त दुखों क्लेशों बंधनों से छूट कर नित्य आनंद को बंधन रहित जीवन को अवस्था को प्राप्त करना चाहता है इसमें मतभेद नहीं मिलेगा चाहे कोई ईश्वर को माने या न माने नास्तिक क्यों न हो उसके मन में ये धारा ये मान्यता विद्यमान रहती है कि मैं सारे दुखों से छूट जाऊं कोई कष्ट बाधा कलेश मुझे न छुए ऐसा चाहता है इस विषय में मतभेद नहीं मिलेगा चाहे किसी देश का हो किसी विदेश का हो चाहे व्यक्ति हो इतना ही नहीं पशु पक्षियों में भी यही बात है कीट पतंग में भी यही बात है जो कुछ व्यक्ति करता है तन मन धन समर्पित करता है लगातार वह केवल सारे दुखों से मैं छूट जाऊं इसलिए वो लगातार और कोई उद्देश्य इसका नहीं दूसरे पक्ष में नित्य आनंद स्थायी सुख दुख रहित सुख बंधन रहित अवस्था को प्राप्त कर लू ये दूसरी मांग है उसकी अब इसके क्षेत्र दो हैं संसार के सुख और सुख साधनों से क्या ये दोनों उद्देश्य पूरे हो जाएंगे ये प्रश्न है अर्थात संसार के क्षेत्र में करोड़पति अरबपति बनने से या राजा महाराजा बनने से क्या उसके सारे दुख छूट जाएंगे क्या वो नित्यानंद प्राप्त हो जाएगा ये प्रश्न है इसका उत्तर यह है कभी भी समस्त दुख नहीं छूटेंगे और कभी भी दुख रहित स्थायी आनंद नहीं मिलेगा इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति तत्व देता व्यक्ति ये देखता है जिनको दोनों उद्देश्यों को मैं पूरा करना चाहता हूँ वो लोक में नहीं है लौकिक सुख और सुख साधनों से नहीं मिलेंगे इसलिए सांख्यकार ने क्या बात कही हम्म? मैं दृष्टा तत्सिद्धि निवृत्तेरपी अनुवृत्ति दर्शनार्थ कपिल आचार्य ने कहा कि कोई ये चाहता हो मानता हो कि लौकिक सुख और सुख साधनों से मैं समस्त दुखों से छूट जाऊंगा नित्य आनंद को प्राप्त हो जाऊंगा वो कहता है न ये कभी भी नहीं होगा न दृष्टा तथा सिद्धि नहीं होगा अब इसके कारणों पर विचार करो अर्थात लौकिक सुख और सुख साधनों से ये दोनों उद्देश्य पूरे क्यों नहीं होते एक बात और ईश्वर प्राप्ति होने पर ये उद्देश्य दोनों पूरे हो जाते हैं इसके कारणों को देखो संसार में जो सुख है वह सुख क्षणिक है पांच इंद्रियों का शब्द स्पर्श रूप रस और गंध पांच प्रकार का इंद्रियों का सुख है ये सुख क्षणिक है क्षण भर में स्वार्थ होता है कभी देखेंगे आप किसी व्यक्ति को ये कहो ये कोठी है एक करोड़ रुपए की सारे साधन है आपको यहाँ एक मिनट रहने के लिए समय मिलेगा जितना आनंद उठाना हो उठा लो क्या समझ में आया वो ये कहेगा इस एक मिनट के सुख से मेरी झोपड़ी अच्छी है आराम से घंटा दो घंटा और आराम करूंगा एक मिनट का सुख मुझे नहीं चाहिए एक मिनट में बाहर निकाल दोगे इसकी मैं कोई आवश्यकता नहीं वो ये कहेगा मुझे नहीं चाहिए एक मिनट वाला सुख देखो मोटी भाषा ये पेंट का कपड़ा खरीदते माताएं धोती खरीदती बीस दुकानों पर ढूंढेंगे और कहेंगे ये सुंदर भी है और लंबे काल तक चलेगी उस दुकान पर जाएंगे तो तीन घंटे लगाने पड़े क्या नहीं होता है आप देख सकते हैं वो सुंदर भी हो और स्थायी हो वो कहेंगे वो खरीदेंगे भवन बनाने लगेंगे कहेंगे ये तो सौ वर्ष चलेगा नहीं नहीं भले ही डेढ़ लाख खर्च हो जाए डेढ़ सौ दो सौ वर्ष जो चलता हो वो घर बनाओ वो भवन बनाओ वो ऐसा ही कहेगा पता चलता है प्रत्येक व्यक्ति स्थायी सुख लंबे काल तक रहने वाले सुख को प्राप्त करना चाहता है क्षणिक सुख को प्राप्त कोई प्राप्त नहीं करना चाहता कोई भी नहीं चाहता परंतु व्यक्ति के पीछे आक्रमण मृत्यु का हो रहा है जवानी को देख रहा है और जवानी के ऊपर आक्रमण मौत का होगा बुढ़ापे का या मौत का ही हो जाएगा और डर रहा है युवा अवस्था मुझे मौत आएगी ये जवानी नहीं रहेगी बुढ़ापा आएगा बुढ़ापे से पहले ही मुझे मार जाएगी उसको जवानी अवस्था में डर लगना आरम्भ हो जाता मरूंगा मैं <laughs> या नहीं होता क्यों नहीं गंभीर है जब व्यक्ति इन पदार्थों को देखता है पूरे परिवार को शरीर को नगरों को सदैते देखता है उसी समय उसकी रुचि हट जाती है क्या होता नहीं पता चला आप करके देख लो प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक अपनी बहन की मृत्यु देखी थी बड़ा क्षोभ हुआ था वो रो भी नहीं सके थे ऐसी स्थिति आई कुछ भी नहीं सब रो रहे थे रोध हो रहे थे परिवार वाले और कुछ तो ऐसा भी हो सकता है कहते होंगे पत्थर हृदय वाला रो भी नहीं रहा वो रो ही नहीं पा रहा था इतना आश्चर्य हो गया कि बहन की मृत्यु का क्या मतलब वो रही नहीं क्या हुआ ये शरीर पड़ा है अब कालांतर में फिर चाचा जी की मृत्यु होगी बताया जाता है वो विद्वान थे बहुत प्रेम करते थे उस दिन की कथा है स्वामी दयान सरस्वती को इतना रोना पड़ा कभी रोना नहीं पड़ा इतने रोए और उसके मन में ये बात बैठ गई ये मृत्यु मुझे नहीं छोड़े घर से संपत्ति से परिवार से भाई बहन जो कुछ था वो सब कुछ को छोड़ के चल पड़े मुझे नहीं छोड़ेगी मौत आप भी याद रख लो आप आज ग्रेस तुम्हें मैं मिलेगी जिस दिन ये पता चल जाएगा मौत तो आई बस उसी दिन घर दिखाई नहीं देगा घर को तो छोड़ दो घर में आकर्षण नहीं रहेगा महात्मा बुद्ध को बार बार कहा गया ये करो ये खाओ ये पियो सारे हाव भाव रख दिए वो कहते ये तो सब नाशवान मुझे कोई इनमें सुख नहीं दिख रहा कुछ नहीं चाहिए और रात्रि को एक छोटा बालक संतान की थी उसको रात्रि को पत्नी को इस बालक को छोड़ करके वनों में चले तो जब व्यक्ति को पता चल जाता है ये अनित्य है सारी चीजें अनित्य दिमाग में आते ही इनमें जो राग है आकर्षण है वो समाप्त हो जाता है नहीं रहता ये तो एक बात बताइए आप दूसरी बात और सुनिए दूसरा भाग दुनिया का है इस संसार को शरीर को सोना चांदी को और पशु पक्षी को सभी पदार्थों को व्यक्ति बहुत सुंदर देखता है बड़े अच्छे देखता है बड़े अच्छे लगते हैं उसको बड़े प्यारे लगते हैं उसको सुंदर रूप में आशक्त हो जाता है बिल्कुल पागल जैसा पर जिस समय वो देखता है ये सुंदर शरीर सुंदर पदार्थ चाहिए तो एडी से चोटी तक के मरे जब ये देखता है तो उस सौंदर्य से वैराग्य हो जाता दो बात तीसरी बात तो सुनिए जवाब सुने तीसरी बात जब वो लौकिक सुख में दुख विसरी के देखता है बच्चे सुख में दुख मिला हुआ है ये देखता है तो लौकिक सुख को न प्राप्त करना चाहता न भोगना चाहता ये तीसरी बात कितनी हो गई डालो आलस्य नहीं आएगा नींद नहीं आएगी क्यों नहीं वेद मुनि आप दोहरा दो तीन बातें कौन कौन सी हो गई संसार के पदार्थ संसार के पदार्थों को जब नाशवान देखता है तो उनकी ओर से उसका राग आकर्षण हट गया संसार के लोगों को जो अपवित्र अशुद्ध देखता है तो सुंदर सुंदर रूपों से उसका राग आसक्ति हट जाता संसार के सुख में जब चार प्रकार का दुख मिला हुआ देखता है तो भोगों में उसकी जो रुचि वो समाप्त हो जाती चौथी बात ये शरीरों को देखते हैं हम अपने मित्रों के भाइयों के बहनों के सबके शरीरों को देखते हैं हम और अपने शरीर को देखते हैं अज्ञानता से व्यक्ति इनको वो चेतन मान लेता है इन शरीरों को क्या समझ में आया आप इन बैठे देख रहे आस पास के इनको क्या मानते हैं क्या दिमाग काम करता है ये सब चेतन है ऐसा मानते ये वो देखता है ये शरीर चेतन नहीं है आंख नाक इंद्रिया भी चेतन नहीं है ये सब जड़ पदार्थ तो इनमें रुचि नहीं रहती जिस समय व्यक्ति ऐसा मान